परमादरणीय विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों कल के सत्संग में आपने सुनने का प्रयास किया समझने का प्रयत्न किया था कि व्यक्ति को विचारों के क्षेत्र में क्या क्या जानना चाहिए विचार करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जो इस प्रकार से विचारों को करना नहीं जानता उनकी पद्धति उनका ढंग नहीं समझता वह व्यक्ति उन्नत नहीं हो पाता आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जो वेद मंत्र प्रतिदिन स्वाध्याय के रूप में पढ़ा जाता है उसको प्रत्येक ब्रह्मचारी अच्छे प्रकार से स्वाध्याय अपना धर्म मान के जो प्रतिदिन पूरा उसको करता रहे प्रत्येक ब्रह्मचारी उस मंत्र को अच्छे प्रकार से श्रद्धा पूर्वक दिन में पढ़े और यहाँ के सुने आपने आरंभ किया किसी ने नहीं किया किस किस ने किया अजय जी से नहीं किया वो कौन आपने क्यों नहीं किया विशेष रूप से ऐसे नहीं पढ़ा हाँ जी लेकर विशेष रूप से नहीं पढ़ा हाँ। जो जो आपको ये साधन बताए जाते हैं उसको आप अच्छे प्रकार से सुनते नहीं मनन नहीं करते व्यवहार में लाते नहीं जो परित्याग के योग्य बातें हैं उनको छोड़ते नहीं तो आपकी उन्नति असंभव ही कोटि में रहेगी इसमें अनेक रोग होते हैं व्यक्ति में एक उसका दिमाग बना हुआ है कि मैं जो समझता हूं वो ठीक है बस बस वो ठीक है और संसार के <laughs> लोगों की किसी की बात भी मेरे तुल्य नहीं है इसके ऊपर एक रोचक वाक्य बोला जाता है कि हाँ तीन में से ढाई गुना बुद्धि अपनी और आधा गुना संसार की क्या समझ में आया दो राजो कम से कम वैसे तो बोल नहीं तीन में से ढाई अपनी बुद्धि होती है और आधा गुना एक में से आधा संसार की बुद्धि होती है ये इस व्यक्ति का दिमाग है और कितना क्षेत्र तो ऐसा है वो परमात्मा को भी उस आधे गुण में ले जाता है मनुष्यों की तो कथा क्या है अब क्या समझ में आया ईश्वर को भी आधे गुण उस आधी बुद्धि है ना जो तीन में से ढाई गुणा तो अपनी हो गई और आधी पूरे संसार की हो गई और उसी में ईश्वर भी आ गया या नहीं होता है आप नहीं समझेंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे ये जन्म से अन्य जन्मों से ये मान्यताएं ये वासनाएं ये आपने कट्ठी कर रखी है और उनको आप छोड़ना चाहते नहीं जब उनको छोड़ना नहीं चाहते प्रयास नहीं करते तो आपकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध रहेगा उसको कोई खोल नहीं सकता विचारने का ढंग जैसे बतलाया था अब आपने ये सुना होगा पढ़ा होगा कि व्यक्ति जैसे समुद्र में गोता लगाता है ऐसे ईश्वर में गोता लगाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की यह बात कहां पर है क्या लिखा है हम्म? शब्द पूरे ध्यान भाव याद है उस प्रकार से गोता समुद्र में गोता लगाता है हम्म, हम्म, ठीक वैसे ही ईश्वर में योगी योगी गोता लगाता है अच्छा आपने गोता लगाना सीखा नहीं सीखा अच्छा कोई लगा पाया आप में से आज तक या नहीं आप बताओ अपना आप कौन कोई भी नहीं लगा पाया कभी कभी तो क्या होता है ईश्वर में तल्लीनता ईश्वर उसी के गुणों को चिंतन उसी में अपने आप को हाँ। लगाना अच्छा कुछ झलक होती है जी जी आपने ध्यान दिया कि सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान ये सुनते हैं आप कोई वस्तु कोई पदार्थ कोई चीज संसार में ऐसी नहीं है और न थी और न होगी जिसमें कभी ईश्वर विद्यमान न रहता हो दोहरा लो क्या कहा कोई भी ऐसी चीज न थी न होगी न है जो जिसमें ईश्वर विद्यमान न रहता ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं हाँ हाँ जी मानते बोलो या नहीं जचती ये बात आपको आप बोलो शाब्दिक रूप से जलते एकदम से अनुभूति नहीं होती ये क्यों नहीं जचती इसका एक मूल कारण यह है कि वेद और ऋषिकृत ग्रंथ उपनिषद सत्यार प्रकाश आदि ग्रंथों पर आपका विश्वास किंचित मात्र है है कुछ विशेष नहीं है इसलिए नहीं जचती या नहीं मानते आप इस बात एक कारण यह है उसमें कौन सा कारण है वेद और वेदानुपनिषद ग्रंथों में जो ये बातें लिखी हैं उनको आप शत प्रतिशत सत्य नहीं मानते और उसमें मानने में भी पांच प्रतिशत कोई दस प्रतिशत हो सकता है कोई बीस पर पहुंचेगा तो वो स्थिति बनी रहती है अथवा ऐसा नहीं है या शंका है इसमें आप नहीं मानते ना फिर से सुन लो उन जो लिखा है कि ईश्वर तीनों कालों में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जहां ईश्वर ना रहता हो ये तो सुना पड़ा ये मान ली तो आप उसको इसी रूप में क्यों नहीं मानते मानते हैं तो मानते हैं तो फिर गोता लगाओ भगाते <laughs> हैं क्यों जी देखिए मानने का अर्थ तो ये हुआ कि भाई आप मानते हैं पाकशाला में हलवा बना है और जट थाली लेके पहुंच जाते हो और खा लेते हो ऐसे ईश्वरों को क्यों नहीं लगाते आप कोई ऐसा ज्ञान नहीं है ऐसी विद्या नहीं है जो ईश्वर में कभी न रही हो आज न हो और आगे न रहे या न हो या है कोई ज्ञान ऐसा है संसार में है जी क्या दौर आया बोलो क्या दौर कोई ज्ञान ऊंचा बोलो कोई ज्ञान नहीं है जिसमें ईश्वर में ना हो हाँ और आगे बढ़ो जहां जीव आत्माएं हैं उनकी सत्ता जहां रहते थे वहां ईश्वर है और जहां जीव आत्मा नहीं है वहां ईश्वर है जहां अरबों खरबों लोग लोकांतर है वहां ईश्वर है और जहां कोई भी लोक नहीं मिलेगा वहां पर ईश्वर है प्रकृति सत्व जहां है वहां ईश्वर है वहां नहीं है वहां ईश्वर है ऐसा नहीं मानते आप फिर गोता क्यों नहीं लगाते हाँ जैसे जैसे आप लगाते हैं उस तरह का नहीं लगाते लेकिन जितना हमारा स्तर है उसके अनुसार लगाते हैं कभी ऐसा ना हो स्तर तो बहुत हो और आज अपने बल को बचाए बैठे हैं कहती है इजारे जी मेरा स्तर नहीं है अब वासुदेव जी कहें जी मेरा अभी अवसर नहीं है फिर कहेंगे वासुदेव जी चलो नहीं अभी इतना कारखाने का काम और है लेकिन नहीं मेरा स्तर नहीं है वास्तव में वो करना नहीं चाहता एक बहुत बड़ा भाग होता व्यक्ति उसका स्तर जितना है उस स्तर को या तो जानता नहीं या जानता है पर वो प्रमादी आलसी होने से उसका प्रयोग नहीं करता दोनों में क्या अंतर देखा आपने उसके अंदर तीन बातें नहीं स्तर नहीं है एक से तो स्तर को प्राप्त किया जा सकता स्तर है उस उसके पास में है नहीं और वो होते हुए भी ईश्वर को नहीं मानता इतनी योग्यता है तीसरी बात स्तर है और शब्दों से तर्कों से भी उसने जान लिया फिर उसके, उसके अनुरूप पुरुषार्थ नहीं करता हाँ जी नींद तो नहीं आ रही आपको क्या बताया मैंने तीन सुनाओ तीन बारे नींद तो जानता नहीं हम्म। और ये जो जान के करता नहीं हम्म। हाँ कम सुन पाए आप हाँ जी आप बोलो एक स्थिति यह है कि व्यक्ति का स्तर ही नहीं होता होता ही नहीं है नहीं आज और वो प्राप्त कर सकता है प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता वो विद्या गति नहीं है संस्कृत में उसकी गति नहीं है मान के चलिए आज नहीं है तो संस्कृत की गति विकास कर सकता है नहीं करना चाहता दूसरा रास्ता क्या था हाँ यह है कि व्यक्ति अपने स्तर को ठीक वो उसके पास स्तर है योग्यता है वो पुरुषार्थ नहीं करता उसका प्रयोग नहीं करता तो वो भी उन्नति नहीं कर पाता फिर तीसरी उसमें कुछ जाना कि मेरे अंदर शक्ति है बल है पर उसका प्रयोग में तप करना पड़ता है त्याग करना पड़ता है वो करता नहीं इसलिए वो नहीं कर पाता जो स्तर नहीं होता व्यक्ति का जिस अवस्था में जाने के लिए उन्नति करने के लिए तो वो क्या करता है वो जहां जहां सामर्थ्य शक्ति स्रोत हैं उनकी खोज करता है जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं आपको पता हो जिन जिन बातों को वो चाहते हैं जिन जिन शक्ति सामर्थ्यों को वो चाहते हैं उनके पास नहीं है उनकी गवेषणा करते हैं और झोंक देते हैं अपने आप को चाहे मर भी क्यों न जाए यहां तक शक्ति लगाते हैं कितने और वो जो क्षमता नहीं थी उनके ये नए नए आविष्कार देखे ना अपने विज्ञान के नहीं देखे नए से नया कोई न कोई कोई न कोई और वो उसको उपलब्ध कर लेते व्यक्ति को परिश्रम करके बल विद्या सुख जो भी सामर्थ्य उनके स्रोत उपलब्धि वो कहां से मिलेंगे वो जानना पड़ता है उसकी गवेषणा नहीं की जाए तो व्यक्ति उन स्रोतों को नहीं जान सकता नहीं जान सकता तो वो व्यक्ति आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो सामर्थ्यवान नहीं बन सकता फिर आगे चल के मान लो उसने सामर्थ्य प्राप्त कर लिया जैसे उस स्थिति में जाकर के फिर क्या होता है उसके पास सामर्थ्य आया आने पर भी वो आलस्य प्रमाद और दूसरी बातों में लग जाने के कारण उसका ठीक प्रयोग नहीं करता उसका सामर्थ्य का सामर्थ्य तो सबकी बात है मतलब नहीं एक स्तर होता जैसे बच्चा है बालक है ना उसके पास में इतना बल इतनी बुद्धि नहीं है ना उसको हम कहेंगे इसके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है इतनी दौड़ लगा देंगे भगवान का समान हाँ वो, वो बुद्धि का विकास करना होता है ना वो बालक में थोड़ी होती है ना विकास करने की शक्ति बुद्धि तो वही रहेगी जैसे इसका बल बढ़ता जाता है शरीर बढ़ता जाता है तो बुद्धि भी बढ़ती जाती है बुद्धि तो जो कि तो है वो बढ़ाया जाता है तो देखना यह है कि आपको ये कहा गया कि ईश्वर में गोता कैसे लगाते हैं अब गोता लगाने के पास का सामर्थ्य इसमें है ही नहीं मान के चलिए एक स्थिति गोता लगाने का सामर्थ्य है नहीं ये प्राप्त कर सकता था गोता लगाने का ईश्वर में वो नहीं करता आगे बढ़े उसने सामर्थ्य कुछ प्राप्त किया आज है उसके पास में सामर्थ्य बहुत कुछ उसका प्रयोग नहीं करता सामर्थ्य साधन के रूप में है एक और बात जानेंगे बाधक इसके साथ साथ बाधक बाधकों की स्थिति साथ बनी रहती है वो उसके पास में बाधक नहीं है एक ऐसा मान के चलिए वो बाधकों को इकट्ठा कर लेता है क्या समझे आप एक ऐसा उदाहरण दो जो थोड़ा सा बिचानी हो जाए आप आए गांव नगरों से यहां पढ़ने के लिए और दस कक्षा उत्तीर्ण थे बारह उत्तीर्ण थे बुरा देखा कि यहाँ बड़ा अच्छा एक केंद्र है विद्यालय है यहाँ श्रद्धा से विद्वान बनेंगे योगी बनेंगे और बड़ी रुचि और श्रद्धा से आप पढ़ने लगे आप बड़ी नम्रता है पैर छू के नमस्ते करते हैं ब्रह्मचारियों को भी करते हैं आचार्यों को भी करते हैं सेवा भाव भी अच्छा है भाग के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और कालांतर में एक दो वर्ष में आपने संस्कृत भाषा में गति की फिर एक दो तीन चार पांच दर्शन पढ़े डाले उपनिषदें पढ़े कुछ व्याख्यान बोलना आ गया फिर ये स्थिति आई आते आते और आपको आप देखने लगे अब क्या स्थिति है अब इसने सामर्थ्य अपना बढ़ाया नहीं सोरे ध्यान देना अब उसमें अभिमान आ गया ऐठ आ गई आलसी बन गया प्रमादी बन गया तो इसने बाधक था नहीं ना जो एक नया अभिमान नई ऐठ <laughs> असर था औरों के प्रति घृणा उन्हें पैदा करेंगे या नहीं होता ऐसा बोलो होता है नहीं होता, है। बोलो हाँ तो ये अब वो आपने रोड़ा बना के खड़ा कर लिया अपने आप अब ये रोड़ा आपको आगे नहीं बढ़ने दिया शब्दों का अभिमान विद्या का अभिमान बल का अभिमान धन का अभिमान आदि आदि ये आपने इकट्ठा कर लिया अब ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा जो नहीं था बाधक वो बाधक खड़ा कर दिया बाधक है बाधक को ज्ञान विद्या कभी कभी झलक आती है ना पहले वाली अवस्था जो नम्रता थी वो झलकती है या फिर कभी उपदेश सुनते हैं तो हमारा स्तर ऊंचा बन जाता है बनता है ना पता चल गया कि मे, मेरे अंदर तो शब्द का भी मान हो गया है विद्या का भी मान हो गया है बल का हो गया पता चला ना आप लगाया कभी कभी उन्हें गहराई में जाकर देखा कि मेरे अंदर तो चीज आ गई वो नहीं थी अनुभव हो जाएगा उसको अच्छा उसको वो छोड़ना नहीं चाहता पता चल गया जैसे वहां बल का पता चल गया था बल का प्रयोग नहीं करना चाहता था नहीं समझ रहे आप मेरी बात को जैसे उसको सामर्थ्य मिला था ना प्राप्त किया था और पता चल गया मेरे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करना चाहता था ऐसे बाधक का पता चल गया इसको अब तो आया समझ में और बाधक को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहता जो प्यार करता है उसे और उसको हटाता था तो अपने आप को खाली रिक्त अभावात्मक देखता कि मेरे पास रहेगा क्या यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो जहां प्राप्ति के साधन हैं वहां प्राप्ति के बाधक भी उसके साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं <coughs> प्रत्येक क्षेत्र में अब जो दोनों को नहीं जानता और इस रूप में प्रयोग नहीं करता वो उन्नत नहीं हो सकता <coughs> अब इसको वहां जोड़िए ईश्वर गोता लगाना अब उन स्थितियों का आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे मान के चले प्रयास किया तो कुछ जानने लगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है फिर उसका सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करना चाहते आलसी प्रमादी है आप फिर आपने लोकेशना या पुत्रेशना या बीतेशना खाने पीने की इच्छा वो उत्पन्न कर डाली वो उत्पन्न कर जब डाली तो आप गोता लगाते हैं गोता लगाने ही नहीं देंगे आप ऐसे रोड़े खड़े कर दिए आप अच्छा देखो एक मोटा दृष्टांत लेते हैं एक गृहस्थ व्यक्ति है उसके बालक हैं पुत्र पौत्र हैं सब साधन जुटे हुए हैं खाने पीने की सब व्यवस्था है कोई कठिनाई उसके पास में है नहीं उसको कहा गया कि देखो आप ईश्वर में गोता लगाओ अथवा ये कल्पना कीजिए उसको कहा गया देखो ये संसार का तो सुख देख लिया आपने खा पी करके सब हो गया आप इस सारे परिवार को खान पान को छोड़ के समुद्र में गोता लगाओ ऐसा आनंद मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं है समुद्र में गोता लगा दो तो वो वो सोचेगा लगाऊ या नहीं लगाऊ निश्चित मिलेगा वो तो लगा दे अच्छा वो कहेगा फिर मुझे ये दिन के दर्शन होंगे या नहीं होंगे पुत्र पुत्र पौत्र होंगे तो ये तो नहीं होंगे तो मैं मैं नहीं लगाऊंगा आप जैसे जैसे देखते जाए भले ही वो कहता रहे आओ कि हम आनंद चाहता हूं मैं आनंद चाहता हूं मुझे आनंदित कर दो आनंदित कर दो अब उसने अपने आप रोड़े खड़े कर रखे पुत्र पोत्रों के जैसे वासुदेव जी ने कर रखे वो जो उसके पास में रहते हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहता उसको ये कह दो ना ये बेटा मिलेगा ना बेटी मिलेगी ना पत्नी मिलेगी ना घर मिलेगा ना टेलीविजन मिलेगा ना खाने पीने की कचौड़ी मिलेंगी ना पूरी मिलेंगी आनंद मिलेगा नहीं तो नहीं ऐसे आनंद को नहीं चाहता वो जाना ही नहीं चाहता उन्होंने रोड़ा खड़ा कर रखे अपने आप और कहता जी भगवान मुझे आनंदित कर दो भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दो ये कहता रहता आपने भी ऐसे रोड़े खड़े कर रखे बाहर की वस्तुओं बड़ी प्रिय लगती हैं आपको बहुत प्रिय लगती है वो वो प्यार इनका जो है राग वो ईश्वर की ओर जाने नहीं देता जैसे बूढ़े का उदाहरण दिया मैंने नहीं जाने देता हूं अच्छा आप ये बताओ खीर हलवा जो खाते हैं आप अच्छी भूख लग रही हो उसमें खीर हलवा और ईश्वर दोनों ही हैं आपके पास में तो विद्यमान है प्रेम कौन से में अधिक है उस ओर से बोलेंगे आप बोलोगे आप बोलो खीर में हाँ, हाँ जी नहीं सुना दोनों में आधा आधा रहता है स्वामी बराबर हो जाता है आपका नहीं पता में रहता है लेकिन वो ईश्वर में रहता है में कभी कभी ईश्वर में भी अधिक रहता है कभी मात्रा बढ़ जाती है उनका बराबर जैसा है आपका कुछ ईश्वर में बढ़ गया कभी ये है आपका खीर में अच्छा फिर खीर में रहता तो फिर ईश्वर में गोता लगाने की बात क्या सोचते हो आप ईश्वर इस, इस प्रकार से भूला भटका तो है नहीं आप खीर से प्यार करते रहो आपकी समाधि लगवा देते इतना तो इन उन दूसरे लोगों ने भोला भाला ईश्वर तो है नहीं जैसे दूसरे लोगों का होता है मैं सुना करता हूँ शंकराचार्य का मंदिर कश्मीर में गए और एक व्यक्ति था लगभग चालीस वर्ष की अवस्था वाला उसमें वो टाल बनी हुई होती है जिसे बजाते हैं एक लोहे का पीतल का वो होता बजाने का डंका <laughs> तो वो गा रहा था बड़ा ऐसे मस्त हो गया टमाटम मार इसे भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी इसे भोले से बाबा को <laughs> जो मना ले अभी इन लाखों करोड़ों का तो बोला जब आप के चाहे जो मंगा लो आपका भी ऐसा ही है फिर उन्हीं जैसे आप रहे अभिमान तो क्या है अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप यदि आपका प्रेम खीर हलवे में रहता है कल्पना कीजिए ईश्वर के समान या अधिक तो आप गोता नहीं लगा सकते यद्यपि खीर हलवा खाओ ये निषेध नहीं है कभी आप सोचते हैं खीर हलवाई नहीं खिलाना चाहते जितने शरीर पचा सकता है दंड बैठक मारो और बलवान बनो शक्तिशाली बनो बुद्धि का वो ईश्वर ने दिया है इस काम के लिए इसका निषेध नहीं है जैसे कई बेसमझ लोग कहते हैं भाई देखो ये गुरुकुल की ब्रह्मचारी बादाम खाती ये गुरुकुल के मक्खन खाती भला कोई मक्खन खा के घी खा के ब्रह्मचारी रह सकता है हाँ बात तो ठीक है भाई सूखी रोटी खानी चाहिए जिसमें हल्दी भी नहीं डालना ऐसा साग खाना चाहिए ये बिना सिर पैर की बात करते रहे इनको कुछ पता नहीं अंधकार में पड़े हुए वो तो संतुलन है कि उचित भोजन मात्रा में अधिक नहीं न्यून नहीं खा के पचाओ इसमें निषेध नहीं है कभी आप परंतु खाना पीना बुद्धि बल के लिए है सब कुछ ठीक है पर जो प्रेम है व्यक्ति की उपासना है उसमें खाने पीने की वस्तुओं से प्यार कितना है कैसा हो और ईश्वर में कितना कैसा हो ये जानना चाहिए इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ता है इस मात्रा को घटाते रहना पड़ता है ईश्वर के प्यार को बढ़ाते रहना पड़ता है उसमें कारण होते हैं अनेक कारण ऐसे हैं आप पढ़ते हैं भी उन कारणों को परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख ऐसा चित्र खींचा ऋषियों ने वैज्ञानिक उसमें कोई संदेह नहीं रह सकता चार प्रकार का दुख मिश्रित है और उस मिश्रित दुख वाले सुख को विवेकी तत्ववेता दुख ही मानता है ये निर्णय दिया साधारण बातें नहीं है जिसके मन में ये बात बैठ गई शत प्रतिशत की निश्चित बात है ऋषि ने जो बात कही ये चार प्रकार का दुख मिश्रित हम इसको पकड़ेंगे तो चार प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा उसके दिमाग में बात बैठ गई क्योंकि मैं फिर इसका फिर भोग नहीं करूंगा आपने सुना है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बाल्यावस्था में जब चौदह वर्ष की अवस्था बताई जाती है उसमें शिवरात्रि का व्रत रखा था ठीक है ना और उस समय स्थिति जो सुनाई जाती है कथाओं के माध्यम से जो हम आप सुनते हैं ना वो चूहा आता है खाता है कूदता है जो भी कुछ टट्टी करता है जो भी कुछ करता है कोई सो गया कोई ये करता है वो देख रहे हैं शशांक जी शिव जी आज दर्शन देंगे ये देंगे और वो फिर चूहा आया जैसे और चढ़ गया और जहां तक आपने सुना ना कहते पिताजी देखो क्या बोलते हैं गुजराती में चूहे को कुंजर उंदर तो देखो वो उसके ऊपर चल रहा है वो शिव जी इतना शक्तता है जो भी कुछ टट्टी करता है जो भी कुछ करता है कोई सो गया कोई ये करता है वो देख रहे हैं शशांक जी शिव जी आज दर्शन देंगे ये देंगे और वो फिर चूहा आया जैसे और चढ़ गया और जहां तक आपने सुना ना कहते पिताजी देखो क्या बोलते हैं गुजराती में चूहे को कुंजर उन्दर तो देखो वो उसके ऊपर चढ़ रहा है वो शिव जी इतना शक्तिशाली बताया था आपने कहती फिर फिर कहते देखो वो देखो वो तो शिव जी इतना बलवान सबको का उपसंहार करता सब करता तो बताया जाता है जीवन चरित्र में लिखा भी ऐसा ही होगा जो अपना लिखा माना जाता है कि ये अपने इष्ट को हटा नहीं सकता तो मैं इसकी पूजा क्यों करूं <laughs> कहता मैं इसकी पूजा क्यों करूं मैं नहीं करूंगा इसकी है? सच्चा शिव जी कहा मिलेगा बस मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब आप में महसी जैसी रुचि लगन श्रद्धा थोड़ी है यदि नहीं है तो सच्चा शिव जी आपको मिलेगा भी नहीं अपने को भूल भूलिए मत रखो <laughs> स्वयं को अंधकार में मत रखो तो ये जो ईश्वर में डूबकी लगाना गोता लगाना ये विद्या आनी चाहिए और उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है व्यक्ति फिर सत्य कराई रहना चाहिए व्यक्ति को सत्य ठहरता है उसको स्वीकार छोड़ना नहीं असत्य सिद्ध होता है उसका ग्रहण नहीं करना भले ही संघर्ष चलता रह सकता है पर असत्य को स्वीकार करके बैठ जाना सत्य को छोड़ के बैठ जाना यह कोई जीवन नहीं है या मृत जीवन इसको कहना चाहिए मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है सुना ना जान सकता है किंतु अठता दुराग्रह अनेक प्रयोजन और अज्ञान आदि अविद्या कारणों से झूठ में झुक जाता है ये स्थिति आपकी रहे व्यक्ति का ऐसा मन सदा रहना चाहिए जो परमाणु से सत्य सिद्ध होता है उसको ग्रहण करने में असत्य से तो होता छोड़ नहीं उद्यत रहे और जब नहीं छोड़ पाता क्योंकि सारा सत्य और असत्य बड़ा लंबा है जितने को छोड़ पाया छोड़ पाया शेष के लिए संघर्ष चलता है इस असत्य को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में इस सत्य को छोड़ूंगा नहीं ग्रहण किए बिना इस असत्य को छोड़ूंगा नहीं बाहर निकाले बिना फेंके बिना बस इस संघर्ष में रहता है व्यक्ति और ये इसका चलता रहता मन में राग द्वेष मन में काम वासना मन में उत्तरेषणा वित्तेषणा जो भी बुराई उभरती है ना उन्हें समझ लिया कि ये बुराई है ये दोष है उसका संघर्ष चलता है उखाड़ के फेंकता नहीं सम्मान नहीं चाहिए मुझे जो भी उल्टे विचार आते हैं उनको उखाड़ता रहता है फेंकता रहता दिन रात लगा रहता है वो व्यक्ति जीतता है आगे चल के धीरे धीरे उसकी स्थिति गतिविधि बढ़ती जाती है अभ्यास हो जाता है फिर